समर्थ हो जाता है और फिर वो डेट रीडिंग में डूबा रहता है अंग्रेजी में उसको डेट रीडिंग करते हैं और हिंदी में दिवा स्पॉटिंग करते हैं तो जान करके बैठा है और भीतर से ही रस्ता से व्याकुल है तो झूठी झूठी कल्पना में दिन बनाता रहता है ऐसे ऐसा एक उदार व्यक्ति आ जाएगा तो वो इतना अच्छा मुझे काम देता उसके बदले में इतना धन मिलेगा तो ऐसा मकान रखूंगा तो ऐसे नंबर रखूंगा तो ऐसे सामान रखूंगा तो कहाँ से कहाँ चला जाता तो ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज है ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है के सभी लोगों का असूल के उपचार हम लोगों को बता रहे हैं कह रहे हैं कि भाई अगर तुम नील अवतार का नाम करना चाहते हो तो उस रथ स्वरूप परमात्मा में विश्वास करो विश्वास करोगे तो संबंध बन जाएगा संबंध बन जाने का अर्थ ये है कि जितना Mm-hmm.

इसकी चार समय को ही चारों पदार्थ मानता था कितनी गरीबी की दशा थी कोई देखने वाला नहीं कोई Thank you. में वो का प्रयोग किया उनका दुख मिट गया उनकी पराधीनता मिट गई उनकी नीरसता मिट गई अलग अगोचर परमात्मा उनका अपना सदा संबंधी हो गया प्रत्यक्ष हो गया उन लोगों ने अपनी बातों को हम लोगों के सामने रख दिया अब इतना ही सा तो है ना वो करने की बात तो है अब इतनी सी बात है कि जो बने बनाए मार्ग हैं जो जो प्रचलित विद्युत शासन प्रणालियाँ हैं उनमें से जो अपने लिए उपयुक्त मालूम हो उनको अपना करके और हम चल पड़े करूं करके करूं प्रिंट कर तब जाओ ऐसा भी मैंने देखा है एक साल हम लोग दुगुरमुखी में गंगा जी के तट पर सत्संग भाग चल रहा था तो सुरसुर भाग पर स्वामी महाराज का हृदय तो को मां की तरह था ब्रह्मा द्रवित हो जाते थे उठा की और कहता that.